नमस्कार मित्रों ये video self finance medical college के ऊपर है स्पेसिफिकली मेडिकल कॉलेज इसलिए क्योंकि जो एजुकेशन सेल्फ फाइनेंस हो रहा है आर्ट्स का कॉमर्स का साइंस का इंजीनियरिंग का मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं जो मेडिकल का एजुकेशन सेल्फ फाइनेंस हो रहा है मैं उसके अगेंस्ट हूं और ये क्यों किया जा रहा है क्या फायदा किसको नुकसान है वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो मेडिकल के एजुकेशन में जो मेडिकल कॉलेज होती है उसका हॉस्पिटल से एफिलिएशन होना जरूरी होता है आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते हो कि जिसका इंडस्ट्री से कोई एफिलिएशन ना हो वहां पे सिर्फ पढ़ाई होगी वहां आसपास कोई इंडस्ट्री नहीं है चलेगा मेडिकल कॉलेज ऐसे नहीं खुलती 100 एमबीबीएस की आपको कॉलेज खोलनी हो तो हॉस्पिटल से अफिलिएशन लेना पड़ता है और वो हॉस्पिटल कम से कम इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वहां पे हजार दो हजार पेशेंट के बेड हो क्यों क्योंकि सोसाइटी को यदि एक डॉक्टर प्रोड्यूस करना है तो वो चार साल की पढ़ाई के दौरान सिर्फ पढ़ाई करे और पेशेंट को देखे ही नहीं तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता उसको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और साथ साथ में उसको पेशेंट मिलने चाहिए और वो पेशेंट मिले पेशेंट को एग्जामिन करे उसको ट्रीट करे सीनियर का सुपरवाइजन भी होता है एमबीबीएस का स्टूडेंट है वो पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली वो सीनियर के सुपरविजन में काम करता है लेकिन यदि पेशेंट ना मिले तो कितना भी बुद्धिशाली विद्यार्थी हो वो डॉक्टर नहीं बन सकता अब जब एमबीबीएस का स्टूडेंट पेशेंट को ट्रीट कर रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस डॉक्टर तो नहीं है उसके पास एक्सपीरियंस कम है तो पेशेंट के ऊपर थोड़ा खतरा तो बढ़ेगा ही और ये खतरा सोसाइटी जेल रही है और पूरी दुनिया की सोसाइटी जेल रही है और शायद इसका कोई अल्टरनेटिव जहां तक मेरा मानना है मेरे पास नहीं है तो स्टूडेंट को ट्रेन करने में पेशेंट है उसका उपयोग हो रहा है सोसाइटी पूरी सोसाइटी का उपयोग हो रहा है वो मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट है पूरी सोसाइटी के लिए उसके बाद आता है स्टाफ का खर्चा इक्विपमेंट का खर्चा हॉस्पिटल चलाने का खर्चा अब हम सारे खर्चे ऐड कर दे जैसे अहमदाबाद का वीएस हॉस्पिटल का है जो मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया या कोई भी आप बड़ा हॉस्पिटल ले लो एम्स या किसी उसका बजट देखोगे तो उसका जो खर्चा है और सामने जो स्टूडेंट से फीस आ रही है तो सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज में भी जो स्टूडेंट की फीस आ रही है वो हॉस्पिटल के पूरे खर्चे का दो तीन परसेंट पांच परसेंट भी नहीं हो रहा यानी कि सरकार यदि सेल्फ फाइनेंस ना करके उसको पूरा मेरिट की तरह चलाए तो हॉस्पिटल का बजट सिर्फ पांच दस परसेंट पांच एक परसेंट ही ज्यादा बढ़ेगा ज्यादा बढ़ने नहीं वाला तो पांच परसेंट बढ़ाने के लिए क्यों सरकार फाइनेंस सेल्फ फाइनेंस कर रही है कोई तुकी नहीं है ये रीजन नहीं है मेडिकल कॉलेज को सेल्फ फाइनेंस करने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार फिर वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या मुलायम यादव की हो या कोई भी हो ये सारी सरकारें क्या कारण देती है कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम इस कॉलेज को सेल्फ फाइनेंस कर रहे हैं पर हॉस्पिटल में पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट खर्चा कर रही है वो आप खर्चा देखो तो उसमें मेडि मेडिकल स्टूडेंट की फीस पांच परसेंट भी नहीं है यानी वो खर्चा स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो निकाल सकती है तो फिर गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है या तो सरकार ऐसा क्यों है सरकार यानी सरकार का मंत्री सरकार कोई गलत काम करती है तो 99 परसेंट केस में उसका कोई भ्रष्ट मंत्री होता है भ्रष्ट अधिकारी होता है और बैकग्राउंड में उसको भ्रष्ट न्यायाधीशों का सपोर्ट होता है ये तीन सपोर्ट करें भ्रष्ट धारा सभ्य भ्रष्ट मंत्री भ्रष्ट अफसर और बैकग्राउंड में भ्रष्ट न्यायाधीश और पेड मीडिया का उसको आशीर्वाद हो तभी बड़े पैमाने पे गलत काम हो सकते हैं यदि चार में से एक भी पार्टी कोऑपरेट करना बंद कर दे तो बड़े गलत काम जो रिपीटेडली होते हैं वो बंद हो जाएंगे तो उसका मुख्य पर्पस है कि मेडिकल कॉलेज को सेल्फ फाइनेंस करने के लिए किसकी परमिशन चाहिए एक तो केंद्र सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री की उसके बाद दूसरा नंबर आता है ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल का उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्री की यदि वो कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है कुछ कुछ कॉलेज जो है और हॉस्पिटल है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई शासन नहीं होता तो पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर बहुत कम है एक बार सेंटर और All India Medical Council approve कर दे उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर या हेल्थ मिनिस्टर ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकता तो गुजरात में मैं एग्जांपल दूंगा जो अहमदाबाद में जहां मैं रहता हूं VS hospital Vadilal Sarabhai hospital वो एक जमाने में सेल्फ फाइनेंस मतलब एक जमाने में पूरा गवर्नमेंट पेड था वहां पे जितनी भी सीट थी अभी मुझे याद नहीं है मैंने जब ट्वेल्थ पास किया तब मेरे कुछ दोस्तों ने वीएस हॉस्पिटल के साथ जो मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन लिया था तो उस समय उन्होंने कितनी फी दी थी वो रकम इतनी छोटी है कि आज उनको भी याद नहीं है उन्होंने कहा साल का कुछ दो तीन हजार का खर्चा आता था उस समय आज से बीस बाईस साल पहले यानी आज के हिसाब से उसको दस से भी मल्टीप्लाई कर दो तो साल का बीस हजार का खर्चा हो गया उसमें हॉस्टल का खाना आ गया हॉस्टल की फी आ गई किताबों का खर्चा भी आ गया तो सब मिला के आज के खर्चे के हिसाब से साल का तीस हजार यानी चार साल का एक लाख पचास हजार जितना खर्चा आ गया अब वहां पे खर्चा कितना आता है किताबों का खर्चा हॉस्टल का खर्चा जाने नहीं मेरा वो तो सब लाख दो लाख में मतलब पांच साल की जो फी है वो एक आध लाख के अंदर में आ जाता है हॉस्टल का खर्चा खाने का खर्चा वो सब वो डेढ़ दो लाख में जो उनको आज मेडिकल के लिए फी देनी पड़ती है पंद्रह से बीस लाख रुपया पांच साल का चार साल का चार साढ़े चार साढ़े चार साल का कोर्स होता है उनका उसकी फी उनको देनी पड़ती है पंद्रह लाख से बीस लाख रुपया और हंड्रेड परसेंट सेल्फ फाइनेंस हो गया यानी गोल्ड मेडलिस्ट भी हो एग्जाम का नंबर वन हो टॉपर हो गोल्ड मेडलिस्ट हो लेकिन यदि उसके पास पंद्रह लाख नहीं है तो उसको एडमिशन का फॉर्म भी नहीं देते उसको कॉलेज में भी नहीं घुसने देते चौकीदार उसको गेट से ही भगा देता है वहां गेट से ही पूछते हैं कि पंद्रह लाख है नहीं है तो निकल यहां से अब वो ऐसा क्यों किया क्योंकि जो अमीर वर्ग है खास करके जो डॉक्टर लोग हैं सारे डॉक्टर खराब है ऐसा नहीं कहता वो चाहते हैं कि उनके लड़के डॉक्टर बने हर एक अमीर आदमी चाहता है कि उसका लड़का डॉक्टर बने उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है अब हर एक डॉक्टर का लड़का 90 परसेंट ला नहीं सकता हर एक डॉक्टर का लड़का 95 परसेंट ले नहीं आ सकता क्योंकि मिडिल क्लास के लोअर मिडिल क्लास के कुछ लड़के भी पढ़ने में तेज होते हैं बुद्धिमान होते हैं तो उनके मार्क ज्यादा आ जाते हैं तो उनको किस तरह से कंपटीशन से निकाला जाए मैं डॉक्टर हूं मेरे पास दो पांच करोड़ रुपया है मेरा लड़का है उसका 95 परसेंट नहीं आया 85 परसेंट आया कोई लोअर मिडिल क्लास का लड़का है उसका 85 परसेंट से ज्यादा आ गया 90 परसेंट आ गया 95 परसेंट आ गया तो मेडिकल में वो सीट ले जाएगा लेकिन यदि कंडीशन रख दो कि भाई पंद्रह लाख नहीं है तो मत आना तो पूरा जो मिडिल क्लास है वो साफ हो गया क्योंकि उनके पास पंद्रह लाख एजुकेशन के पास खर्च करने के लिए है नहीं कहने के लिए बैंक लोन देती है पर बैंक है वो गारंटी मांगती है गारंटी कुछ लोगों के पास होती नहीं है गारंटी के नाम पे सिर्फ एक घर होता है तो कभी-कभी बाप है वो मना कर देता है क्योंकि आज कोई बेटे का भरोसा नहीं है बैंक है मान लो उसने घर गारंटी पे लिया और उस आदमी का लड़का डॉक्टर बना और लड़का बनने के डॉक्टर बनने के बाद यदि वो अपने बाप को कहे कि भाई पैसा नहीं देना तो बैंक तो पैसा निकालने के लिए आसान रास्ता ढूंढती है आसान रास्ता क्या है कि घर जब्त करके बेच दो इसलिए एक लटकती तलवार आदमी के पास रहती है सरके रहती है कि भाई मेरे पास एक ही घर है मैं इसको गिरो मैं उसको मॉडगेज नहीं करना चाहता तो वो पंद्रह लाख का लोन बैंक नहीं देगी और उसकी वजह से वो मेडिकल में नहीं जा पाएगा तो ऑलरेडी बहुत सारे हर्डल है जैसे उनके पास ट्यूशन क्लास में जाने के पैसे नहीं है फिर उनके पास आ, को ये महंगी अच्छे स्कूल में नहीं जा सकते पर अब एक और आ गया कि मान लो कोचिंग क्लास में जाने का पैसा नहीं था तो उसने खुद पढ़ाई की अच्छे स्कूल में नहीं जा सकता था तो वो घटिया स्कूल में जाके भी अब 90-95 परसेंट ले आया तो अब किस तरह से उसको कॉलेज के गेट में से घुसने रोको कि फी बढ़ा के 15 लाख 20 लाख 25 लाख 35 लाख कर दो ताकि वो कॉलेज में घुस ही ना सके तो मिडिल क्लास निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली अपर क्लास के जो लड़के हैं जिसमें बड़े डॉक्टरों के लड़के आ गए मिनिस्टरों के लड़के आ गए आईएएस अफसरों के लड़के आ गए आईपीएस अफसरों के लड़के आ गए न्यायाधीशों के लड़के आगे वो और अमीर जनरल अमीर कोई भी है उनके उनका मेडिकल कॉलेज में घुस के डॉक्टर बनने का काम आसान हो गया अब सोसाइटी को नुकसान क्या हुआ सोसाइटी को नुकसान ये हुआ कि जो इंटेलिजेंट आदमी डॉक्टर बन सकता था वो नहीं बना अभी कुछ कुछ कॉलेजों में ये हो रहा है कि 60 परसेंट वाले लोग डॉक्टर बन रहे हैं कैसे कि मैनेजमेंट कोटा जो है एक तो उसमें जान पहचान चाहिए प्लस यदि सेल्फ फाइनेंस में मेडिकल कॉलेज का की फी यदि मान लो 20 लाख है तो मैनेजमेंट कोटा में फी उसकी 50 लाख है तो जो 25 लाख वाला है वो भी नहीं जा पाएगा मैनेजमेंट कोटा में तो जो 60 परसेंट परसेंट वाले हैं वो मैनेजमेंट कोटा में डॉक्टर बन जाते हैं और उनको एडमिशन मिल जाता है तो उसकी वजह से जो डॉक्टर की जो मेंटल कैपेबिलिटी है बुद्धि लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी उनमें दिन ब दिन गिरावट आ रही है तो सोसाइटी को नुकसान क्या हुआ सोसाइटी को नुकसान ये हुआ कि तीन चार साल पांच साल तीन चार तो नहीं पर पांच सात साल बाद जो डॉक्टर आएंगे वो इतने बेवकूफ होंगे ऐसा मैं नहीं कहूंगा पर कम इंटेलिजेंट होंगे तो इससे मेडिकल ट्रीटमेंट में काफी गिरावट आ जाएगी प्लस एक जो पढ़ने में जो लोअर मिडिल क्लास के लड़के मन लगाते हैं वो कम हो रहा है वो कम क्यों हो रहा है कि आज से 20 साल पहले मिडिल क्लास के लड़के लोअर मिडिल क्लास के लड़के क्यों मन लगा के पढ़ते थे क्योंकि वो देखते थे यदि मैं पढ़ूंगा यदि मेरे अच्छे परसेंट आते हैं तो मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा मेडिकल में एडमिशन मिलेगा वहां पढ़ाई करने के लिए मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए और मेडिकल में एडमिशन करने के बाद मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो मेरे पास गाड़ी बंगला सब आ जाएगा और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है गाड़ी बंगला आता है तो बुद्धि है मेहनत है उसकी कमाई है तो मन लगा के पढ़ते थे अब उनकी पढ़ने में रुचि क्यों कम हो गई क्योंकि वो देखते हैं कि भाई यदि मैं मान लो मेरा बोर्ड में टॉपर भी हो जाता हूँ तो मेरे पास तो 25 लाख रुपया है नहीं कि मैं मेडिकल की पढ़ाई कर पाऊँ मेरे पास तो 10 लाख 5 लाख रुपया है नहीं कि मैं इंजीनियरिंग कर सकूँ तो मैं करूँगा क्या ज्यादा पढ़ के तो ऑलरेडी उनकी ये जो जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज का चक्कर शुरू हुआ उसकी वजह से उनकी पढ़ने में रुचि कम हो रही है और खास करके मेडिकल कॉलेज में क्योंकि एक डॉक्टर है वो ऑन एन एवरेज इंजीनियर से चार पांच गुना ज्यादा कमाता है ऑन एन एवरेज ऐसा नहीं है कि हर एक डॉक्टर हर एक इंजीनियर से पांच गुना ज्यादा कमाते हैं पर ऑन एन एवरेज एक डॉक्टर है वो पांच सात गुना ज्यादा कमाता है तो मिडिल क्लास का हर एक लड़का सोचता था कि मैं यदि खूब अच्छी पढ़ाई करूंगा तो मैं डॉक्टर बनूंगा मेरा लाइफ सुधर जाएगा क्लास चेंज हो जाएगा मिडिल क्लास से मैं अपर क्लास में आ जाऊंगा वो ड्रीम धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है मिडिल क्लास का लड़का देखता है कि मैं कितना भी पढ़ूंगा मुझे अब मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलने वाला तो पढ़ने में रुचि कम हो रही है जो कि पूरी सोसाइटी में एक डिसरिस्पेक्ट फॉर एजुकेशन या लेस रिस्पेक्ट फॉर एजुकेशन की फीलिंग आती है कि पढ़ने के लिए जो इम्पोर्टेंस था वो कम हो गया तो अब वो गलत साइड पे अपना माइंड लगाएगा जो भी उल्टे सीधे काम है स्टूडेंट लाइफ में जो नहीं करने जैसे होते उसमें तो उसका ज्ञान ज्यादा जाएगा पढ़ने में मन कम हो गया तो कहीं ना कहीं और गलत जगह पे माइंड जाएगा दूसरा जो डॉक्टर के लिए रिस्पेक्ट था वो कम हो जाएगा डॉक्टर के लिए एक रिस्पेक्ट होता था और वो जायज रिस्पेक्ट होता था कि भाई ये आदमी ऐसा ही डॉक्टर नहीं बना है बोर्ड में नाइन्टी फाइव परसेंट लाया था बुद्धिमान था इसलिए लाया था चलो थोड़ा बहुत किस्मत होगा कि उसको जो क्वेश्चन आता था वो एग्जाम में आ गया नहीं आता था वो एग्जाम में नहीं आया वो थोड़ा बहुत लक हर एक के साथ होता है पर ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था बहुत ही मेहनतू आदमी था इसलिए वो डॉक्टर बना वो रिस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा कि कौन जाने ये इंटेलिजेंट है या नहीं होगा वो पच्चीस लाख थे उसको एडमिशन मिल गया उससे भी दस गुने ज्यादा इंटेलिजेंट लोग थे बेचारा उनके पास पच्चीस पचास लाख नहीं था उनको एडमिशन नहीं मिला तो जो डॉक्टर के लिए रिस्पेक्ट था वो सोसाइटी में कम हो जाएगा अब इसका कंपैरिजन मैं दूसरे कंट्री के साथ करूंगा अमेरिका के साथ अमेरिका में मेडिकल का एडमिशन किस तरह से ट्वेल्थ के बाद वहाँ मेडिकल में एडमिशन नहीं है ट्वेल्थ के बाद तीन साल का कॉलेज होता है तीन साल के बाद वो तीन या चार साल बाद वो मेडिकल में अप्लाई करते हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं मेडिकल में तीन साल जनरली वो क्या पढ़ते हैं पढ़ने के लिए वो कुछ भी पढ़ सकते हैं इंजीनियरिंग भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं पर जनरली जिनको वो डॉक्टर बनना होता है वो लाइफ साइंस का कोई कोर्स लेते हैं बायोलॉजी का भी हो या लाइफ साइंसेस का या ये पैथोलॉजी में उनको इंटरेस्ट है तो वो मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड इंजीनियरिंग डिग्री करते हैं अलग-अलग एरिया के जो मेडिकल से कनेक्टेड हो ऐसे एरिया में वो तीन साल चार साल कॉलेज डिग्री लेते हैं उसके बाद वो मेडिकल टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं वहां पे मेडिकल एजुकेशन काफी एक्सपेंसिव है पर मेरिट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता यानी किसी का मेरिट है तो एडमिशन उसके लिए क्यों हंड्रेड परसेंट गारंटीड है क्योंकि बैंक लोन आसानी से मिल जाता है डॉक्टर के लिए मेडिकल के लिए अमेरिका में किसी भी ब्रांच के लिए बैंक लोन आसानी से नहीं मिलता पर मेडिकल के लिए बैंक लोन रिलेटिवली आसानी से मिल जाता है और इसलिए क्योंकि उसने चार साल कॉलेज में बहुत अच्छा पढ़ा है और वो मेडिकल एग्जामिनेशन में उसका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता क्वालिटी के साथ देखो वहां भी अमीर आदमी चाहते हैं कि उनके लड़के भाई हुक और क्रुक डॉक्टर बन जाए पर वो सिस्टम वहां पे नहीं ट्विस्ट होने देते डॉक्टर जो मेडिकल काउंसिल है क्यों क्योंकि वो देखते हैं कि यदि इस तरह से पैसा लेके एडमिशन ले लेना शुरू किया कि भाई अक्ल हो या ना हो पैसा है आ जा जो यहाँ पे हो रहा है कि सिक्सटी परसेंट पे मेडिकल में एडमिशन मिल गया तो एक पॉइंट के बाद डॉक्टरों की सोसाइटी में रेपुटेशन खत्म हो जाएगी तो जब जूरी के सामने केस जाएगा डॉक्टर का या पेशेंट डॉक्टर वर्सेस पेशेंट का तो जूरी डॉक्टर को कम रिस्पेक्ट की नजर से देखेगी कम मेडिकल कम बेनिफिट ऑफ डाउट देगी इसलिए वहां पे जो मेडिकल काउंसिल है वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही और उसकी वजह से मिनिमम क्वालिटी मेंटेन हो रही है यहां पे वो मिनिमम क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है क्योंकि वो सिर्फ पैसा देखकर एडमिशन दे रहे हैं अब इसका सॉल्यूशन क्या है इसका सॉल्यूशन मैं प्रपोज करूंगा एक तो right to recall health minister क्योंकि यदि हेल्थ मिनिस्टर भ्रष्ट नहीं होता तो मेडिसिन में सेल्फ फाइनेंस कॉलेज नहीं आती तो right to recall health minister centre का स्टेट का और right to recall all India medical council chairman medical council के चेयरमैन बहुत ही भ्रष्ट थे पिछले पंद्रह साल में और उसकी वजह से ये सारा मेडिकल का सेल्फ फाइनेंस कॉलेज शुरू हुआ दूसरा मेरा जो प्रपोजल है वो ये है कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर को जो एडमिशन मिलता है वो फ्री में पढ़े लेकिन वो पांच साल तक इंडिया छोड़ के नहीं जा सकता इंडिया में रह के उसको जो करना है करे मतलब करेगा क्या मेडिकल का उसने एमबीबीएस किया है तो वो कोई साइकिल की दुकान तो नहीं खुलने वाला डॉक्टरी करेगा दो चार लोग यदि डॉक्टरी नहीं करते बिजनेस चले जाते तो ठीक है दो चार परसेंट का नुकसान हो गया पर जिसको पांच साल के लिए मेडी मतलब जिसने एमबीबीएस किया है उसके लिए एक ही कंडीशन होगी कि वो पांच साल इंडिया छोड़ के नहीं जा सकता और बाद में एमडी करना है तो तीन साल और इंडिया छोड़ के नहीं जा सकता बाद में डीएम करना है तो दो साल और इंडिया छोड़ के नहीं जा सकता इंडिया में उसको जो करना है करे इंडिया में वो, वो डॉक्टरी करेगा तो इससे कुछ ना कुछ फायदा होगा तो एक मेडिकल में एडमिशन सिर्फ मेरिट से होना चाहिए रिजर्वेशन होना चाहिए यानी वो मेरा अलग वीडियो है कि किस तरह से रिजर्वेशन कम हो सकता है और डॉक्टर के ऊपर एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि वो पांच साल तक देश छोड़ के नहीं जा सकता और ये कैसे सिस्टम आ सकता है right to recall health minister और right to recall all India medical council chairman अब क्वेश्चन आता है एक जो मैं स्टैंड बताना चाहूंगा कि जब बहुत सारे देश के कार्यकर्ता रिजर्वेशन का विरोध करते थे वो बार-बार बोलते थे कि अपर कास्ट का लड़का है 85 परसेंट आया उसको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला एस टी एस सी था 65 परसेंट था 70 परसेंट था उसको मेडिकल में एजुकेशन मिल गया बहुत चिल्लाते थे इस बात को अब वही कार्यकर्ता सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज का विरोध नहीं कर रहे आप क्लोजिंग रैंक देख लो रिजर्वेशन में जो जनरल का क्लोजिंग रैंक होता है एससी का क्लोजिंग रैंक उससे कितना पीछे होता है दो चार परसेंट ज्यादा पीछे नहीं होता क्योंकि एससी में भी अब लोग ट्यूशन रख के या किसी भी तरह से अच्छा पढ़ लिख लेते हैं उनमें भी बुद्धि है उनमें भी पढ़ने की मेहनत करने की इच्छा है एस का क्लोजिंग रैंक तीन चार परसेंट और कम होता है पर यदि जनरल का closing rank suppose ninety percent है तो एससी का क्लोजिंग रैंक होता है दो तीन परसेंट कम एस टी का क्लोजिंग रैंक होता है चार पांच परसेंट और कम पर सिक्सटी परसेंट नहीं होता तो किसी sixty percent S T S C को आज एडमिशन नहीं मिल रहा मेडिकल में लेकिन सेल्फ फाइनेंस वाले को मिल रहा है पचास लाख रुपया दे दो मैनेजमेंट सीट पे फिफ्टी पर सिक्सटी पर सिक्सटी फाइव परसेंट पे भी एडमिशन मिल रहा है तो ये रिजर्वेशन का विरोध करने वाले इसको विरोध नहीं कर रहे हैं दूसरी तरफ जुडिशरी ने सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति दे दी है लोगों ने पीआईएल फाइल किया था वो पीआईएल जज ने खारिज कर दिया <coughs> क्यों क्योंकि न्यायाधीशों के रिश्तेदार वकील काफी सारे मेडिकल कॉलेज में ट्रस्टी है आप मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टियों के नाम देख लो आपको उनमें से बहुत सारे ट्रस्टी बड़े वकील मिलेंगे जिनके साथ जिनकी बड़े वकीलों की जज के साथ मिली भगत है इसलिए हाईकोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज ने पीआईएल को एडमिट नहीं किया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं आप कार्यकर्ता मैं कार्यकर्ता हूं हम एसएमएस से एमपी को ऑर्डर भेज सकते हैं कि मेडिकल में सेल्फ फाइनेंस नहीं होना चाहिए मेडिकल में फी जीरो रूपीज होनी चाहिए और मेडिकल में एडमिशन सिर्फ मेरिट से मिलना चाहिए इस तरह का ऑर्डर हम एमपी को एसएमएस से भेज सकते हैं धन्यवाद